देव ने विक्रांत से यह भी बताया कि वो जल्द ही साजिद के केस की रिपोर्ट बनाकर भेजने वाला है उसमें भी वो विक्रांत को साजिद को पकड़ने की पूरी क्रेडिट देगा इससे विक्रांत की इमेज भी अच्छी होगी और फिर हो सकता है कि जल्द ही उसे फिर से नौकरी ज्वाइन करने के लिए कह दिया जाए जाते जाते देव ने फिर से विक्रांत को थैंक यू बोला और भविष्य में हमेशा उसके साथ खड़े रहने का प्रॉमिस भी किया विक्रांत भी इन लोगों से काफी इमोशनली अटैच हो चुका था इस तरह से विक्रांत ने अपने तीन दिन लगातार शराब और पार्टी में बिता दिए थे भले ही इन तीन दिनों में उसने खूब दोस्ती निभाई शराब पिया और मजे किए लेकिन फिर भी जॉब पे ना जाने के कारण वो बहुत डिमोटिवेट हो चुका था तीन दिन तक कोई काम न होने के कारण उसका सक्सेस रेट भी काफी लो था फिर भी वो रोजाना अदृश्य शक्ति के सिस्टम को ओपन करके अपने कोड वर्ड को जानने का प्रयास करता था सस्पेंशन के चौथे दिन विक्रांत को कुछ काम करने को मिला था हालांकि ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट काम नहीं था दरअसल उस दिन टीम लीडर मंजू सचदेवा की आत्मा की शांति के लिए उनके घर वालों द्वारा शांति पाठ रखा गया था विक्रांत को मंजू के घर जाना था मंजू के घर जाने से पहले विक्रांत ने अपने अदृश्य शक्ति का सिस्टम खोला आज उसे तूफान और आग कोडवर्ड दिया गया था भयानक तूफान और तेज आग जलती रही बहुत सी चीजें अच्छी होंगी तो बहुत सी खराब भी होंगी हालांकि विक्रांत इस पहली को ज्यादा समझ नहीं पाया लेकिन फिर भी तूफान और आग के कोडवर्ड को सुनकर उसे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है टीम लीडर मंजू की आत्मा की शांति के लिए ये शोक सभा उनके घर पर ही रखी गई थी क्योंकि मंजू एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थी और उनकी हत्या कर दी गई थी इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया था मंजू की डेड बॉडी को भी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया था आज मंजू की मौत को चार दिन हो गए थे फिर भी अभी तक उसके घर वालों का रोना बंद नहीं हुआ था और इतनी जल्दी होता भी कैसे मंजू न सिर्फ एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर थी बल्कि इसके साथ ही वो एक जिम्मेदार पत्नी और माँ का भी रोल अदा कर रही थी वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती थी और बड़ी ईमानदारी से सब कुछ हैंडल करती थी इसीलिए वो घर से लेकर ऑफिस तक हर किसी की चहती थी अभी उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी तकरीबन चालीस साल की रही होगी उनके दो बच्चे थे बड़ा लड़का हाई स्कूल में पढ़ता था और छोटी बेटी थी जो अभी मात्र चार साल की ही थी इस वक्त विक्रांत सभी पुलिस वालों के साथ मंजू के घर पर खड़ा था यहाँ बिल्कुल शांत माहौल था तकरीबन सौ दो सौ लोग यहाँ खड़े थे लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी सुनने को नहीं मिल रहा था सामने मंजू की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी जिसमें उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था फोटो देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अभी वो बोल पड़ेगी फोटो के ठीक सामने मंजू के पति आशुतोष सिर नीचे करके बैठे हुए थे उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे आशुतोष के ठीक बगल में उनका बेटा और फिर छोटी बेटी बैठी हुई थी उस चार साल की मासूम को तो पता ही नहीं था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है वो बार बार अपनी माँ के फोटो के करीब जा जाकर मम्मा मम्मा कहते हुए उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी तभी उनका बड़ा बेटा अपनी बहन को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है और उन्हें शांति से बैठने का इशारा करता है फिर भी वो छोटी बच्ची बार बार अपनी माँ की फोटो के पास जाने की कोशिश में लगी हुई थी दो तीन बार ऐसा हो चुका कि वो माँ की फोटो की तरफ जाती और फिर उसका भाई उसे पकड़कर अपने करीब खींच लाता जब चौथी बार फिर से वो बच्ची रोते हुए माँ के फोटो के करीब जाने लगी तभी मंजू के पति आशुतोष ने उसे अपनी गोद में भर लिया और दहाड़े मार मार के रोने लगा उसे रोते देख मंजू का बेटा भी जोर जोर से रोने लगा ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो उठी विक्रांत भी अपनी आंखों से टपकते आंसू पहुंचने लगा दो तीन औरतें मंजू के पति आशुतोष को पकड़कर चुप कराने लगी लेकिन उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे ये दृश्य बहुत ही भावुक कर देने वाला था हर किसी की आंख से आंसू टपक रहे थे विक्रांत इस हॉल के एक किनारे पर खड़ा था उसकी आंखों के सामने बार बार मंजू का हंसता हुआ चेहरा आ जा रहा था हालांकि मंजू ने कभी उससे ज्यादा अच्छे से बात नहीं की थी फिर भी मंजू ने कभी विक्रांत से कोई द्वेष नहीं रखा था वो भले ही विक्रांत को अपना कंपटीटर मानती थी लेकिन इसके साथ ही वो विक्रांत के काम की तारीफ भी करती थी और मरने के कुछ दिन पहले वो विक्रांत के साथ काफी अच्छे से पेश आ रही थी मरने के एक दिन पहले ही उन्होंने विक्रांत से किडनैपिंग केस के बारे में काफी बात की थी विक्रांत के दिमाग की उन्होंने सराहना भी की थी इस वक्त विक्रांत को मंजू की एक एक बात याद आ रही थी यही होता है जब तक इंसान इस दुनिया में होता है तब उसकी कोई कदर नहीं करता है लेकिन किसी इंसान के चले जाने के बाद उसकी सारी अच्छाइयां याद आती हैं विक्रांत ने मन ही मन खुद निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो मंजू के अधूरे काम को पूरा करके रहेगा कैसे भी करके वो उन्नीस के किडनैपिंग केस के मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहेगा जब मंजू का अधूरा काम पूरा होगा तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी विक्रांत को यहाँ आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था यहाँ लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ था ज्यादातर लोग पंद्रह बीस मिनट रुक कर यहाँ से चले जा रहे थे सो विक्रांत भी यहाँ से जाने का ही सोच रहा था यहाँ से जाने से पहले उसने सोचा कि पहले जाकर मंजू के पति से मिल लेता हूँ फिर यहाँ से जाऊं अभी वो भीड़ के पीछे छोड़ता हुआ मंजू के पति के करीब जा ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा विक्रांत के कदम तुरंत ही रुक गए और उसने अपनी जेब से फोन निकालकर इसे कान पर लगाया हेलो हेलो विक्रांत ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा ताकि उसकी आवाज से यहाँ शोर ना हो जल्दी बाहर आओ ब्लैक कलर की वैन में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ